में जब चलता है ना वहीं तो शुरू शुरू में तो सही चलता है बीच में फट खट खट किया वो सिगरेट बताया

啊，一别一叫，别，别，别，别别别别别别别别别别别别 भास्कर मेरा वो तो भी हमारे इसमें दर्द है काम के है ये लीड वाला माइक कम कम कम एक माइक देना बहुत चेक कर हाँ, खोल दो पर पर पर पर पर हमारे यहाँ समस्या क्या आती है ये जो जो all, all, all, all, ये भी कम रहते हैं ये इसका तो कोई यूज डायरेक्ट यूज तो मतलब ही नहीं ना कैमरे के लिए देते हैं अच्छा उसके लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन वो शिक्षा यूं कर सकती है जैसे हमारे अपने बादल की गरज गरज यही है इसीलिए ये ये ये एक एक चेक करना और चलते रहेंगे ठीक चलते रहेंगे अच्छा, बंद कर रखते ये बंद है ये चालू हो जाएगा ये चक्कर पहुंचा एक बार तो, phù phù phù nước lên phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù सही है ये तो कौन रखो बेस हम्म। पर खरपट ज्यादा रखते हैं इसको ये कम ही रख लो हम्म। वो रखो फोड़ है हम्म। वो जैसे दूध के गैस करने वाला भाई है ना उसके ऊपर ऐसे रखते हैं अब आप कैसे कहते हैं ठीक चलता रहेगा बीच में चलते चलते आचार्य जी आते हैं सत्यजीत जी हाँ डाल सब परेशान रहता है अभी एक सेट सेट करते हुए एक बार प्रोग्राम कब है प्रोग्राम दो बजे से दो बजे से अभी फीवर लगता है अभी अभी देखो तो फीवर लगे हाँ, लग रहा है ना लगेगा हाँ, तो घर आगे ये तो ये हो गया तो लगे तो माइक आगे उसको डबल रहता है सारे बंदे हाँ। और बहुत से काम आ रहे हैं यही है बस दो काम आ रहे हैं वही आते हैं फोल्डर्स फोल्डर का भी काम नहीं सही फोल्डर भी चेक कर लो ना एक बार प्लग लगा बैटरी नहीं है बिल्कुल नहीं है ये तो ठीक है ये तो खत्म हो चुकी है बैटरी ये क्या डगे बंद हो होनी चाहिए ये खत्म हो गई बैटरी ये जैसे ये है ना देखो हम्म। ये डगे बंद होनी चाहिए मतलब बैटरी फुल है अच्छा तो। ये डायरेक्ट बंद हो गई ये डायरेक्ट हो गई ये बंद होनी चाहिए ऐसे इसका मतलब ये बैटरी खराब है ये ये घर की गोल रखना ये डायरेक्ट खत्म हो रही है लीक हो गई ये नहीं आ जाती तो हाँ। है है ना तो, तो बंद कर दिया बैटरी निकाल दिया करो हाँ, अच्छा। रख के भूल जाते हो ये भूल के आते हैं ये गलत तुम किसने करे थे इधर ये अभी लगे या फिर अच्छा ये इसके पैसे भी लगा के देखा था जैसे अभी आपने अच्छा, लगा चेक करा हुआ पैसे भी लगा के देखा था फिर वही फिर मैंने अच्छा, बंद रखो इसके आउटपुट से इसके ऑक्सिलरी लाइन करके देखा ऑक्सिलरी रहता अच्छा, है आउटपुट है इसके आउट है ये देखो ये फुल चार्ज है ये भी खत्म होने वाली बैटरी ये वो टाइमिंग है और ये वाला जो है स्प्लिटर का किससे जाएगा कनेक्शन ये तो वो है आउट वो डिवाइडर हाँ स्प्लिटर ये भी लेते मैं काम में रिकॉर्डिंग हाँ, हाँ इससे नहीं करता नीचे से तो नहीं करती ये रिकॉर्डिंग का भी है ये भी इसको ले रखा है ये रिकॉर्डिंग ये भी है है ना तो इसके ये यहाँ पर कुछ तो है पहले आगे आप थोड़ा का लाइक और भी सारे माइक देख लीजिए इस बार हाँ। वो भी रखा